तुम्हारे पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का जो सही इल्म आ गया है उसके बाद भी जो लोग इस मामले में तुमसे बहस करें तो उनसे कह दो कि आओ हम अपने बेटों को बुलाएं और तुम अपने बेटों को और हम अपनी औरतों को और तुम अपनी औरतों को और हम अपने लोगों को और तुम अपने लोगों को फिर हम सब मिलकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और जो झूठे हों उन पर اللہ کی لانت بھیجیں